Oh. जिज्ञासा समाधान में कुछ दिन पूर्व आकाश के बारे में चर्चा हुई थी आकाश है नहीं है कैसा है इत्यादि तो उस पर कुछ बातें कुछ मंतव्य इन्होंने लिखे हैं वो प्रश्न तो नहीं है लेकिन कुछ मंतव्य हैं उनकी बात है उस पर कुछ हम चर्चा कर लेते हैं आपका ही नाम है राकेश जी राकेश जी ये आपने ही लिखे हैं या किसी और ने भी सहायता करके मिल के लिखे हैं आपने ही अकेले ने लिखे हैं अच्छा तो इन्होंने प्रश्न लिखा है प्रश्न भी लिखे हैं उत्तर भी लिखे हैं उसमें हम चर्चा कर लेते हैं आकाश सत है या असत ये एक प्रश्न चल रहा था तो उन्होंने उत्तर लिखा है कि सत है सत का मतलब सत्तावान है उसकी सत्ता है तो इसमें यह समझना चाहिए कि आकाश दो तरह के हैं आकाश शब्द का प्रयोग दो के लिए किया जाता है अलग अलग प्रसंग में जो आपने लिखा कि आकाश एक सत है ये वो आकाश हम लेंगे जो प्रकृति से बना है सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया जो संख्य दर्शन में दी गई है उसमें अहंकार से पांच तन्मात्राएं बनती हैं उनमें शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत बनता है ठीक है ये जो आकाश है ये सत्तात्मक है द्रव्य है प्रकृति से बना है अहंकारिक है अहंकार से बना है या और पीछे सूक्ष्मता से कहें तो सत्व रज तम से बना है और इसी सत्तात्मक आकाश का गुण शब्द को स्वीकार किया गया शब्द गुण इस आकाश का है ठीक है तो ये सत्य है मतलब ये आकाश सत्य है दूसरा अवकाश रिक्त स्थान उसके लिए भी आकाश शब्द का प्रयोग किया जाता है ठीक है आकाश मतलब शून्य अभाव इसके लिए भी आकाश शब्द का प्रयोग किया जाता है तो जब शून्य अवकाश अभाव के लिए आकाश शब्द का प्रयोग किया जाता है तब हम कहेंगे ये आकाश असत है ये आकाश असत है क्योंकि अभावात्मक कुछ न होना यही उसका स्वरूप है यही कथन किया जा रहा है कुछ है नहीं न होने को आकाश नाम से अवकाश नाम से कहा जाता है तो ये जो दूसरा आकाश है ये कौन सा आकाश होगा असत आकाश होगा तो आपका जो प्रश्न है कि आकाश सत है या असत और आपने कहा सत है तो एक आकाश सत भी है और एक आकाश असत अविद्यमान भी है दोनों बातें होंगी ये बात समझ में आई किन्हीं को इस विषय में इतने में पूछना है हाँ दोनों को एक नहीं मान सकते दोनों को एक नहीं मान सकते देखो एक है सत आकाश एक है असत आकाश यदि दोनों को एक मानेंगे तो सत और असत दो विरुद्ध धर्म एक में नहीं हो सकते सत का मतलब है जिसकी विद्यमानता है असत का मतलब है जिसकी विद्यमानता नहीं है तो होना और न होना भाव और अभाव ये दो बातें एक में नहीं हो सकती ठीक है शब्द तो उसका गुण है शब्द तो उसका गुण है तो गुण सत्तात्मक वस्तु में ही रहता है द्रव्य में ही रहता है तो वो द्रव्य है इसलिए जो शब्द जिसका गुण है वो आकाश सत मानना अलग मानना पड़ेगा और अवकाश का मतलब है जहां प्रकृति नहीं है प्रकृति और प्रकृति से बने हुए कार्य मूल प्रकृति और कार्य जगत जहां नहीं है उसको हम अवकाश या शून्य के नाम से कहते हैं वास्तव में शून्य जैसी जगह नहीं है क्योंकि परमात्मा सब जगह है ठीक है उस बात को मानते हुए अथवा जब अवकाश शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो सापेक्ष होता है परमात्मा को वहां नहीं देखा जा रहा है क्योंकि परमात्मा जगह नहीं घेरता है इसका सापेक्ष रूप में प्रयोग कैसे आप देखेंगे मान लीजिए कोई कमरा है और उसमें कोई वस्तु नहीं है तो किसी ने आके देखा तो क्या कहेगा वो कमरा खाली है कुछ भी नहीं है उसमें तो अगर यूं आप कहने लगे तो वायु तो है कम से कम लेकिन उस वक्ता का अभिप्राय देखेंगे वो कह ठीक रहा है दूसरी चीजें आ सकती हैं ऐसा वहां रिक्त स्थान है वहां कोई कुर्सी नहीं है कोई तख्त नहीं है कुछ और नहीं है आप सामान रख सकते हैं उसमें खाली है वो वायु का अभिप्रायत तो नहीं है क्योंकि वायु उसमें बाधा नहीं बनती है हम कोई चीज रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं वायु उसमें बाधा नहीं बनती है इसलिए वायु के होते हुए भी वो कहते हैं कि कुछ नहीं है प्रकाश के होते हुए भी वो कहते हैं उस कमरे में कुछ नहीं है सी सापेक्ष कथन कहलाते हैं वो अनुचित नहीं है और हम ये कह के उस वाक्य का खंडन भी नहीं कर सकते कि वायु है और आकाश है आपका कथन गलत है वक्ता का अभिप्राय किस तक है कि यहां अन्य वस्तुओं को रखने का स्थान है बिल्कुल इसी तरह से यद्यपि परमात्मा सब जगह है इसलिए खाली जगह कोई नहीं है पर अन्य प्राकृतिक वस्तुएं जहां रखी जा सकती हैं बन सकती हैं गति कर सकती हैं उसमें ईश्वर कोई बाधा नहीं करता इसलिए कहा जाता है शून्य है आकाश हम कहते हैं भाई पृथ्वी ठोस है उसका आवरण है यानी वायुमंडल है उसका एक घेरा है उसके आगे क्या है उसके आगे कुछ नहीं है खाली है शून्य है बीच बीच में कुछ होगा तो वो अलग बात है यूं तो प्रकाश भी आ रहा है लेकिन ये सब सापेक्ष कथन होते हैं इसलिए आकाश को दो तरह से हमें मानना होता है एक असत रूप और एक सतरूप जो सतरूप है उसी का शब्द गुण मानना पड़ेगा हाँ क्या स्वरूप है आकाश अंदर जो हम सुनते हैं इसका गुण है अंदर कुछ पता नहीं लगेगा अंदर कुछ पता नहीं लगेगा आकाश का शब्द गुण परिशेष न्याय से निर्धारित करते हैं ठीक है एक प्रक्रिया में शब्द गुण आकाश के बाद के भी भूतों का माना जाता है आकाश में शब्द गुण वायु में शब्द और स्पर्श अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप जल में शब्द स्पर्श रूप और रस और पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच ये एक प्रक्रिया है योग दर्शन व्यास भाष्य में आया है कुछ क्या करते हैं आकाश के शब्द गुण को अलग रखते हैं और तो चार में ये प्रक्रिया करते हैं आकाश का शब्द गुण वायु का स्पर्श गुण अब प्रारंभ करते हैं अग्नि में स्पर्श और रूप शब्द को नहीं लाते अग्नि में शब्द नहीं स्पर्श और रूप जल में स्पर्श रूप और रस और पृथ्वी में स्पर्श रूप रस और गंध शब्द को छोड़ देते हैं ये भी एक प्रक्रिया है दो, दोनों तरह से हमारे को मिलते हैं व्यास भाष्य में ये पांचों वाला है ठीक है लेकिन इनके अपने अपने मुख्य गुण शब्द आकाश का गुण यानी शब्द तन मात्रा उससे जो आकाश भूत बनता है वो तो शब्द गुण किसका वास्तव में माना जाता है आकाश का अन्य तत्वों में भी जो शब्द का गुण स्वीकार किया जाता है उसका कारण क्या है कि आकाश मिलकर के यानी शब्द तन मात्रा और स्पर्श तन मात्रा मिलकर के वायु बनता है इसलिए उसमें वो दोनों गुण आ गए इसी तरह से बाद में पीछे पीछे वाले मिलते जाते हैं इसलिए उतने उतने अंश में कुछ कुछ वो गुण रहते हैं ये प्रक्रिया मानी जाती है ठीक है लेकिन शब्द गुण असत आकाश का तो नहीं माना जा सकता शब्द सत्तात्मक है गुण है वो किसी सत्तात्मक में ही रहेगा वो द्रव्य ही होगा ये अटल सिद्धांत है स्थिर सिद्धांत है इसलिए असत आकाश का धर्म शब्द नहीं माना जा सकता कोई कहे कि नहीं हम सत आकाश को मानते ही नहीं है बस अवकाश ही आकाश है ये नहीं कह सकते दोनों है और उसके लिए एक वेद मंत्र का भी प्रमाण है नासदीय सूक्त और उस पर ऋग्वेद भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद ने अर्थ भी किया है हमारी पिछली गोष्ठी में यह विषय चला था आकाश का पंचकूला में तो नासदासीत नो सदासीत नासीत रजो नो व्योमा परो यत न सतासीत न असतासीत असत बोल दिया यहां पर पहले तो फिर व्योम अपरोयत अपरह व्योम दूसरा जो व्योम है व्योम मतलब आकाश ये दूसरा व्योम क्यों कौन सा आ गया यानी दो व्योम है ये पता लग रहा है ना वेद मंत्र से भी व्योम अपरो यत अपरह व्योम और महर्षि ने ऋग्वेदाति भाषी भूमिका में इसका व्याख्या भी की है वहां भी उन्होंने दूसरा आकाश माना है ये दूसरा आकाश है सत आकाश और ना सदासीत नो सदासीत न असत आसित न सत आसित न असत आसित ये जो असत क्या है अभाव ये असत अवकाश रूप आकाश है कि प्रलय अवस्था में क्या होता था क्या था बोले हम यू भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं था असत भी नहीं कह सकते और यूं भी नहीं कह सकते कि सत था न सतासित ये जो कार्य जगत है ये भी नहीं था अभाव भी नहीं कह सकते शून्य था तो ये जो असत अभाव है ये अलग हो गया और अपर व्योम अलग हो गया तो महर्षि के वचन से वेद मंत्र से भी दो आकाशों को हमें मानना होता है एक भूताकाश जो कि सत रूप में है और एक अभावात्मक अवकाश जिसे कहते हैं शून्य कुछ भी नहीं है उसको व्यवहार हम उसका करते हैं शब्दों का प्रयोग शास्त्रों में किया जाता है ऐसा समझना चाहिए तो सत और असत ये दोनों बातें हो गई आप कुछ कह रहे थे प्रचलन में है कोई बात नहीं वैसे आकाश मतलब वो शब्द वाला ही आकाश होता है लेकिन कहीं आकाश अवकाश को भी आकाश के नाम से बोल दिया जाता है शून्य को आगे चलो तो नहीं नहीं प्रलयावस्था में वो नहीं रहेगा असत तो रहे। हाँ असत तो रहेगा मतलब तो वो है ही नहीं कुछ अभाव रूप में है आप उसको अभाव को कहना कह दो तो ये भी न्याय दर्शन में चर्चा आएगी अभाव का भाव होता है नहीं क्यों नहीं अभाव अभाव का भाव होता है इसलिए अभाव अभाव नहीं हो सकता वो भाव ही होगा ये सब न्याय दर्शन में काफी चर्चा चलेगी तो सिद्धांत ही उत्तर देता है कि अभाव का अभाव रूप में भाव होता है अभाव को जो हम जानते हैं उसको अभाव को अभाव के रूप में जानते हैं ना कि भाव के रूप में तो असत को असत के रूप में जानते हैं असत को सत के रूप में थोड़ा ना जानते हैं वो सूक्ष्म प्रक्रिया चलेगी प्रश्नोत्तर होंगे आपकी कसरत खूब होगी उस काल में <laughs> एक बड़ा विषय है न्याय दर्शन का वहां पर आएगा ये तो परमाणु मतलब सत्वर स्तंभ बन जाएंगे हाँ तो असत आकाश आप उसको असत आकाश कह लो आप उसको परमात्मा कह लो कि परमात्मा में रहेगा वास्तव में तो वो है ही नहीं ना जिस असत आकाश की हम परिकल्पना कर रहे हैं सत्वर स्तंभ जहां नहीं है वो स्थिति कह लो उसको उसमें रहेगा ऐसे तो नहीं जो थाली में रहता है या आकाश में हम वायु में रह रहे हैं ऐसे कुछ रहते हो मछली पानी में रहती है ऐसे सत्वर स्तंभ उस अभावात्मक आकाश में रहते हो सत्तात्मक तो चीज है नहीं ना वो हम असत ही मान करके चल रहे हैं उसको सत्य के रूप में मत देखो आपके वचनों से ऐसा लगने लग जाएगा और आप अगर उसका असत को असत के रूप में ही समझ रहे हैं तो हाँ में उत्तर है कि ठीक है उस असत आकाश में रहेगी वो ये स्वीकार्य है हाँ। दिलीप जी नहीं इनका कहना है कि हम बातचीत में कहेंगे कि अभूत अभाव असत आकाश है तो है बोलेंगे तो उसको हाँ में कहना पड़ेगा ऐसा नहीं है वो हिंदी की भाषा ऐसी है कि उसके अभाव को ही बता रहा है अभाव जो है उसी के होने को कहा जा रहा है स्वरूप क्या है अभाव का गुजराती भाषा में एक प्रयोग करते हैं वहां उस पर आक्षेप आता है यानी हिंदी वालों पे आक्षेप आता है तो मैं जब गुजराती बोलता था या नहीं नहीं बोलते थे तो मेरे को नहीं जाना है नहीं जाऊ छे ऐसा मैं बोलता था <laughs> तो वो मेरे कोई गुजराती साथी बोलते थे जहानगर में नहीं जाऊ भी बोल रहे हो और छह भी बोल रहे हो <laughs> बोले नहीं जाऊ बस इतना गुजराती भाषा में क्या बोलते हैं ठीक बोल रहा हूं मैं आ, क्या बोलेंगे मने नहीं जाऊ नहीं जाऊ नहीं जाऊ अब हिंदी में तो क्या बोलते हैं नहीं जाना है अब मैंने है का मतलब तो छह <laughs> समझ रखा था तो हिंदी उसका भाष्य अब तो नया व्यक्ति तो अनुवाद ही करके बोलता है तो नथी जाऊ छ जब मैं ये बोलता था तो वो मेरे पे हंसते थे बोलिए गुजरात हिंदी वाले उल्टे हैं मैं कहता भी हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं है को मैं छह बोल रहा हूं आप है को छह ही बोलते हो गुजराती में <laughs> तो बोले नहीं ये हिंदी वाले उल्टे हैं जब नथी बोल दिया नथी जाऊ तो फिर छह फिर क्यों बोल रहे हो <laughs> पर अलग अलग भाषाओं का अपना अपना स्वरूप होता है हिंदी में ये नथी में छह और न दोनों आ जाते पर हमने तो यही समझा था ना नथी मतलब नको नहीं ऐसा तो आकाश का इसका असत का असत है ऐसा जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको ऐसा नहीं समझो आप कि है मतलब तो हम उसका सत्ता स्वीकार कर रहे हैं असत को असत रूप में स्वीकार कर रहे हैं जो हम होना कह रहे हैं क्या कह रहे हैं असत को असत रूप में स्वीकार करें मुझे नहीं जाना है हिंदी में जब ये बोलते हैं तो नहीं जाने को वो स्वीकार कर रहे हैं है है कहने से जाना नहीं हो जाता कि नहीं भी जाना और फिर है कह करके जाना भी है हिंदी में ऐसा अर्थ नहीं लिया जाता है तो ये तो भाषा का प्रयोग है असत को असत रूप में स्वीकार किया गया है ठीक है आगे चलो इनकी बात को आगे बढ़ो इनकी पूरी बात हो जाए हो सकता है आपका उसी में समाधान हो जाए फिर पूछना हो तो पूछ लेना तो इन्होंने पहले वाले प्रश्न के उसमें लिखा कि सत है उसको हम सत मान के चल रहे हैं अब बोले सत है तो उसका गुण कार्य क्या है गुण और कार्य क्या है अगर सत है तो कुछ ना कुछ गुण कार्य भी होना चाहिए हम्म? अगर कोई वस्तु है तो उसमें गुण और कार्य होना चाहिए वैशेषिक ने क्या परिभाषा दी द्रव्य किसे कहते हैं जो क्रियावान हो और जो गुणवान हो ये दो बातें लिखी ना अब इनके मन में भी देखो युक्ति हुई इन्होंने कहा कि सत है तो उसका कुछ ना कुछ गुण और कार्य होना चाहिए क्या है वो तो ये खुद खोल रहे हैं उस बात को जैसे ईश्वर धारण करता है वैसे आकाश भी पृथ्वी आदि द्व्यूलोकों को धारण करता है धारण करना इनको आकाश का धर्म क्या दिखाई दिया धारण करना क्योंकि ये कहा जाता है कि पृथ्वी आदि नहीं होंगे तो ये कहाँ रहे नहीं आकाश नहीं होगा अवकाश नहीं होगा तो ये कहाँ रहेंगे अर्थात अवकाश इनको धारण कर रहे हैं जैसे परमात्मा धारण करता है ठीक है तो उस रूप में यू नहीं कहा जाता जिस कहा रहेंगे उस संदर्भ में तो असत आकाश की बात की जाती है कि यदि असत आकाश नहीं होता तो ये कहाँ रहते हैं ठीक है सत आकाश के लिए नहीं सत आकाश का अपना अस्तित्व है उसके अपने कण हैं इसका बाकी चीजों का भी अपना कण है परमात्मा इस सृष्टि को जैसे धारण करता है आकाश ऐसे अवकाश ऐसे धारण नहीं करता है परमात्मा तो सकारात्मक रूप से धारण करता है सत्तात्मक है और सब प्रयोजन व्यवस्थित रूप से धारण करता है और अवकाश इनको धारण करता है का मतलब है बस अवकाश इन ये रहते हैं वहां पर अगर असत नहीं होता आकाश नहीं होता का मतलब है कोई दूसरी वस्तु होती तो अगर कोई दूसरी वस्तु होती तो ये कहां रहते हैं मान लो यहां पृथ्वी है और उसी जगह पे दूसरी पृथ्वी थोड़ा ना आ सकती है टकरा जाएंगे ठीक है तो जब ये कहा जाता है कि असत यदि नहीं होता अवकाश नहीं होता तो ये कहां रहता इसका तात्पर्य क्या है यदि यहां पर उल्टा करके बोलेंगे यदि यहां पर दूसरी पृथ्वी होती तो ये पृथ्वी कैसे रहती इतने रूप में ही वो धारण कर रहा है वास्तव में कोई सकारात्मक धारण क्रिया असत आकाश के द्वारा नहीं होती है और न सत आकाश के द्वारा होती है सत आकाश धारण करता है ऐसा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि कहीं किसी का वचन मिलता हो आगे इन्होंने लिखा आकाश का स्वरूप क्या है तो स्वयं इन्होंने उत्तर लिखा सत ठीक है सत तो है ये सत आकाश की ही बात कर रहे हैं इसलिए सत आकाश सत है मान लिया फिर उन्होंने कहा चित्त चित्त का मतलब होता है चेतन ये परमात्मा के लिए घट सकता है जीवात्मा के लिए घट सकता है आकाश के लिए नहीं घटता चित्त का मतलब चेतन चेतन का मतलब जो ज्ञानवान हो जिसको अनुभूति होती हो मुख्य बात है ज्ञानवान जो ज्ञानवान होता है वो चित चित होता है तो ये जो आकाश है ये चित नहीं है फिर इन्होंने लिखा आनंद इनको आनंद शब्द ध्यान होगा कि तो परमात्मा में घटता है आकाश में नहीं घटता वो आनंद रूप नहीं है फिर इन्होंने अनादि और अनंत भी उसके लिए लिखा है जो सत आकाश है वो अनादि और अनंत सृष्टि निर्माण प्रक्रिया में चूंकि वो उत्पन्न होता है इसलिए वो अनादि नहीं है उसका प्रारंभ है जिस दिन से वो बनता है उस दिन से उसका आदि है और जब प्रलय होता है तो उसका विनाश भी होता है इसलिए वो अनंत नहीं है शांत है अब इतना कहने के बाद में इन्होंने लिखा इसी से आकाश का सत्तावान और अनादि होना सिद्ध होता है ठीक है <laughs> तो सत्तावान तो है और न्याय वैशेषिक की दृष्टि से इसको नित्य भी माना गया है एक सापेक्ष कथन की दृष्टि से उसको नित्य भी माना गया है लेकिन योग सांख्य की दृष्टि से तत्वतः इसकी उत्पत्ति और विनाश दोनों होते हैं इसलिए इसको अनादि नहीं कहते और अनंत भी नहीं कहते अब बोलो वेदनिष्ठ जी इनका प्रश्न ये है कि हम कहते हैं कि माइक और इन सब में आकाश है तो वो किसके लिए कहते हैं तो प्राय करके वो अवकाश के लिए कहते हैं रिक्त स्थान के लिए कहते हैं और फिर ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कौन वक्ता क्या बोल रहा है दोनों अभिप्राय से भी कह सकते हैं लेकिन प्राय जो कथन होता है रिक्त स्थान के रूप में होता है कि हमें ये प्रतीत होता है कि ठोस है ठीक है कितना ठोस है कितना ठोस है इतना ठोस है कि इसमें पानी भी नहीं घुस सकता नहीं कोई जगह होती तो पानी घुस जाता है इसमें तेल घुस जाता जैसे रुई के गोले में घुस जाता है इसमें तो नहीं घुसता तो ये बिल्कुल कैसा है इसमें सुई भी नहीं घुस सकती देखो ये मेरा उंगली नहीं जा रही है अंदर तो ये तो बहुत ठोस है बिल्कुल ठोस है हम ऐसा समझते हैं विज्ञान से स्पष्ट है जो विज्ञान पढ़े हुए हैं उनको भी पता है कि वास्तव में पूरा ठोस नहीं है कितना ठोस है ये ये कितना ठोस है बताओ कितना ठोस है यानी इसमें कितना रिक्त स्थान है और कितना ये ठोस है आप कल्पना करो अभी कोई हमारे को कहे कि भाई इसमें नहीं कुछ रिक्त स्थान है तो हमें क्या लगेगा होगा थोड़ा सा रिक्त स्थान कोई ऐसे ही तो सोचो यू सोचोगे क्या कि नहीं ये तो पोला है बिल्कुल जैसे रुई का गोला हो उसमें क्या इसमें कितना रिक्त स्थान है तो इसमें बहुत सारा है तो इसके लिए कह सकते हैं क्या लोहे के इसके लिए ठोस छड़ो लोहे का ठोस गोला हो तो गोला फेंक वाली गोला होता है भरा हुआ बिल्कुल तो उसमें कितना रिक्त स्थान है बहुत कितना <laughs> कितना रिक्त स्थान है तो समझ में नहीं आता है तो आधुनिक दृष्टि से जैसा वैज्ञानिक बोलते हैं उसके हिसाब से क्या है कि जैसे एक इसमें परमाणु में अंदर केंद्रक होता है न्यूक्लियस कह लो उसको जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं केवल प्रोटॉन भी रहता है दोनों ही रहेंगे एक एक हाइड्रोजन में भी नहीं हाइड्रोजन में भी एक एक रहता है या नहीं दोनों नहीं रहते मेरे ख्याल से किसी किसी परमाणु में सब में निरपवाद रूप से हाइड्रोजन में कितना होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन होंगे तो संतुलन हो जाता है नकारात्मक सकारात्मक का मेरे को पता नहीं क्यों गलत संस्कार है कि किसी में एक चीज ना रहती हो शायद क्या हाइड्रोजन में हाइड्रोजन पहला तत्व है नहीं एक तत्व ऐसा है एक कोई तत्व ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में नहीं होता हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है ठीक है कोई जानते हो तो पुष्टि करें मेरे को जैसा स्मरण था ऐसा अन्य परमाणुओं में रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन हाइड्रोजन का मेरे को ऐसा ध्यान था कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है ठीक है कोई बात नहीं उस ये इतना मुख्य विषय नहीं हाँ तो इस दृष्टि से देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि होते हैं ऑलरेडी सिर्फ हाइड्रोजन को उसमें नहीं होता यूक्रेनियम ठीक है चलो इन्होंने पुष्टि उस बात की कर दी तो हाइड्रोजन का जो मूल परमाणु होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता है कोई बात नहीं जिसमें न्यूट्रॉन भी होता है तो उसको कितना कैसे कहते हैं ये व्याख्या करते हैं जैसे फुटबॉल का एक स्टेडियम हो बड़ा और उसमें एक फुटबॉल की गेंद बीच में रखी हो कितना बड़ा स्टेडियम होता है बहुत बड़ा होता है और उसके बीच में एक फुटबॉल की गेंद इतनी सी पूरे फुटबॉल के स्टेडियम में इतनी सी बॉल है और इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होते हैं और वो बस घूमते रहते हैं मान लो एक हाइड्रोजन का एक परमाणु है एक बीच में गेंद रखी है और एक इलेक्ट्रॉन वो तो और भी छोटा होता है बहुत छोटा होता है ना वो तो और वो बस घूम रहा है बाकी तो खाली पड़ा हुआ है तो <laughs> वो ऐसी परिकल्पना करते हैं बताओ हम उनसे सुनकर के समझ के भी हमारे दिमाग में पूरा बैठता नहीं है कि इतना खाली होगा <laughs> सोच सकते हैं क्या और क्या कहते हैं वैज्ञानिक ये जो पृथ्वी है इतनी बड़ी इसमें भी बहुत रिक्त स्थान है अगर इनके सारे रिक्त स्थान को समाप्त कर दिया जाए और पूरा घनत्व कर दिया जाए एकदम ठोस ठोस बिल्कुल ठोस ठोस जिससे कि इससे बहुत कम अवस्था में ब्लैक होल्स बन जाते हैं इतना घनत्व इतना गुरुत्वाकर्षण हो जाता है ये पूरी पृथ्वी एक गेंद की तरह से आ जाएगी और कल्पना नहीं कर सकते हम कल्पना से भी बाहर की बात यानी इतना रिक्त स्थान है इसमें <laughs> इसमें कितना रिक्त स्थान है आप सोचो कई जने कहते हैं कि जिनको खिलाना पिलाना होता है दूसरों को तो बोले जी रस तो ले लीजिए जूस तो ले लीजिए क्या तरबूज तो खा लीजिए बोले नहीं तरबूज नहीं खाएंगे अभी इच्छा नहीं है बोले इसमें निन्यानवे प्रतिशत तो पानी है तरबूज में निन्यानवे अठानवे जितना भी होगा थोड़ा तथ्य होगा लेकिन उसमें अधिकांश पानी होता है जो रेशे हमारे को दिखाई देते हैं उसमें भी पानी बहुत होता है यानी ठोस तत्व तो बहुत कम होता है लेकिन वैसे हम तरबूज खाते हैं तो हमारे को यू लगता है क्या कि हम निन्यानवे प्रतिशत या अठानवे प्रतिशत पानी पी रहे हैं अब मैं कई बार सोचता हूँ कि लोग वो खिलाने के लिए करते हैं बोले आपको पानी तो पिला रहे हैं कुछ और थोड़ा कर रहे हैं मौसमी का रस दे तो बोले उसमें कितने प्रतिशत पानी होगा उसमें भी मैं सोचता हूँ कि पिचानवे प्रतिशत या नब्बे प्रतिशत तो पानी ही पानी होगा तो बोले पानी ही तो पिला रहे हैं आपको लेकिन वो भी इतना होता है कि वो हमारी तृप्ति करता है हमारी भूख समाप्त करता है दिखने में ऐसा लगता है अब ये तो दूध पी रहे हैं दूध में भी कितना पानी है छेना कर अलग कर दो और छेने में भी तो पानी तरल रख चीज रहती है बहुत थोड़ा सा ठोस होता है लेकिन फिर भी हम पावर दूध पीते हैं या आधा किलो पीते हैं वो पर्याप्त हो जाता है हमारे को कई घंटों के लिए तो इसमें रिक्त स्थान बहुत अधिक है लेकिन बना ऐसा है कि हमें रिक्त स्थान प्रतीत नहीं होता तो केवल बताने के लिए कि यहां भी रिक्त स्थान है क्योंकि हमारा ये ये जब कथन करते हैं कि आकाश सब जगह है आकाश सब जगह है जब ये कथन आ जाता है ये कुछ मोटे स्तर पर बातें चलती हैं तब ऐसा होता है तो कोई करता है इसमें कहां पर है तो बोले नहीं इसमें भी है वो प्राय करके अवकाश को आकाश शब्द से बोलते हुए कथन करते हैं कि यहां पर खालिस्तान है प्राय करके ये होता है हालांकि आकाश का स्वरूप उतना स्पष्ट नहीं है कि अगर उस आकाश को जो सत आकाश है उसको सर्वव्यापक हम किस तरह से माने जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है क्या ऐसा माने ओम खम ब्रह्म आकाश को सर्वव्यापक माना गया ठीक है अब असत आकाश के लिए हम सोचें क्या असत आकाश सब जगह है बताओ क्या असत आकाश सब जगह है नहीं है क्यों नहीं है जहां कोई वस्तु आ गई है वहां पर वो नहीं है ये तो ये तो कहेंगे ही ना जहां जहां ये वस्तुएं विद्यमान हैं वहां वो असत आकाश तो नहीं है ना नहीं अंदर भी अंदर भी चले जाओ चलो आप परमाणु की तरह से लेकिन जहां केंद्रक है जहां प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है उस कण में तो नहीं है ना जो मूल कण है उसमें तो फिर अब नहीं है ना तो क्या आप कह सकते हो कि असत आकाश सब जगह है नहीं कह सकते ना <laughs> कैसे अगर असत सब जगह है इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलू आकाश सब जगह है यानी असत सब जगह है इसका मतलब है सत कहीं नहीं है इसका निहितार्थ क्या निकलेगा अगर कोई यूं कथन कर रहा है कि सब जगह अवकाश है मतलब असत है आकाश मतलब असत उसके साथ जुड़ा हुआ है सब जगह असत है तो इसका क्या मतलब निकला सत कहीं नहीं है क्या ये स्वीकार होगा ये जो हम सब बैठे हैं ये पृथ्वी है ये सब चीजें ये भ्रांति तो नहीं है ना सत है अगर कहीं सत है जड़ भी जड़ चीजें हैं ये सब चीजें हैं इसका मतलब है असत सब जगह नहीं है ये निश्चित अर्थ निकलेगा ये तर्क युक्ति से पता लगता है क्योंकि दो विपरीत चीजें हैं ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते आप ये नहीं कह सकते कि यहां सत भी है और असत भी है हाँ इसके अंदर कह सकते हो सापेक्ष कथन हो सकता है लेकिन क्या वो असत वो अवकाश सर्वव्यापक है इस रूप में जिस तरह हम परमात्मा को सर्वव्यापक देखते हैं वो उन कण के अंदर भी है क्या उस तरह से वो असत सर्वव्यापक हो सकता है नहीं हो सकता असंभव है ये मोदी जी असंभव है वो पर जो ये कहते हैं कि वो असत सब जगह है उसका क्या मतलब है जहां सत है उसके अतिरिक्त जगह पे सब जगह पे है असत है ही नहीं कुछ स्थान नहीं घेरने की बात ही नहीं है उसको अभाव रूप में ही देखो मेरी दूसरी बात पर ध्यान दो जो असत को सर्वव्यापक कहते हैं या माना भी जाए तो हमें उसका स्वरूप क्या देखना पड़ेगा सर्वव्यापकता का कि जहां जहां सत नहीं है जहां जहां सत है उसको छोड़ करके यानी जहां जहां सत नहीं है विद्यमान तत्व नहीं है वहां सब जगह है जैसे हम कहें कि वायु सब सब जगह विद्यमान है एक मोटा कथन है उसका क्या मतलब है सब जगह का मतलब यहां भी है वहां भी है वहां भी है लेकिन इसके अंदर तो नहीं है अभी इसको छोड़ करके ऐसी ठोस चीजों को छोड़ करके बाकी सब जगह पहचारों और उसके ऐसे में भी हम वायु को सर्वव्यापक कहते हैं ना संस्कृत में सीखते हैं अत्र तत्र सर्वत्र तो सर्वत्र के उदाहरणों में क्या क्या देते हैं वायु अत्र अस्ति व तत्र अस्ति यहां है या वहां है तो वायु तो सर्वत्र ही बोलते हैं जबकि वास्तव में सर्वत्र नहीं है एक सापेक्ष कथन है उसका मतलब क्या होता है इन ठोस चीजों से सब जगह पे है बाकी जगह पे है वो तो असत को जब सर्वव्यापक कोई कहे और हमें उसको व्यवहार में लाना भी है इन वाक्यों का तो उसका मतलब क्या होता है कि सत वस्तुओं को छोड़ करके जो बाकी जगह बची है वहां पर वो असत आकाश है आई बात समझ में इस रूप में सर्वव्यापक है इनके अंदर भी है वो नहीं कह सकते हो गया नहीं बात समझ में नहीं आई क्या स्वीकार नहीं हो ये तो एक अलग बात है लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो पहुंच गया या नहीं मैं कह पाया या नहीं कह पाया ठीक है अब इसी दृष्टि से हम सत आकाश के बारे में भी बात करें सत आकाश को भी व्यापक माना जाता है व्यापक माना जाता है उसकी व्यापकता का स्वरूप क्या है क्या वो परमात्मा की तरह सर्वव्यापक है परमात्मा की व्यापकता को बताने के लिए आकाश का दृष्टांत हम देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है कैसे जैसे कि आकाश तो क्या जिस तरह से आकाश सर्वव्यापक है वैसे ही परमात्मा सर्वव्यापक है अथवा उल्टा कर लो क्या जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है बिल्कुल वैसा का वैसा ही सत आकाश भी सर्वव्यापक है नहीं इसका सीधा उत्तर आएगा नहीं जो सत आकाश है प्रकृति से बना हुआ आकाश है वो उस जगह तो नहीं है जहां पर कि पृथ्वी है जल है अन्य तत्व है इंद्रियां हैं मन है बुद्धि है जहां अन्य तत्व है वहां वो आकाश नहीं है वहां मतलब उसके अंदर भी नहीं मान सकते क्योंकि प्रकृति से बने हुए ये विभिन्न तत्व हैं जो पृथ्वी है वो आकाश नहीं है जो जल है वो आकाश नहीं है जो अग्नि है वो आकाश नहीं है जो वायु है वो आकाश नहीं है जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं वो आकाश नहीं है जो पांच कर्मेंद्रियां हैं वो आकाश नहीं है जो मन है वो आकाश नहीं है अहंकार और बुद्धि तत्व जो है वो आकाश नहीं है इनसे भिन्न आकाश है तो बाकी जो चीजें इतनी सारी गिनाई वो भी तो कहीं रहती हैं उनका भी तो कोई स्थान है अस्तित्व है वो भी सत हैं उनसे भिन्न आकाश एक अलग सत तत्व है ठीक है इसका मतलब है जो बाकी सत तत्व हैं उनके अंदर आकाश नहीं रहता है पर फिर भी उसको हम सर्वव्यापक कहते हैं तो किस रूप में जैसे हम असत आकाश को समझ रहे थे जहां सत वस्तुएं नहीं है वहां सब जगह वो विद्यमान है जैसे वायु को समझ रहे थे सर्वव्यापक है वायु जहां ये वस्तुएं नहीं है इनके चारों ओर सब जगह है इसलिए वो सर्वव्यापक है असत आकाश इन सत वस्तुओं के सब जगह जहां सत नहीं है वहां असत आकाश रहेगा अभाव रहेगा उस रूप में सर्वव्यापक है ऐसे ही सत आकाश भी जब सर्वव्यापक कहा जाता है व्यापक कहा जाता है उसका अर्थ ये लिया जाएगा जहां अन्य तत्व नहीं है और प्रकृति से बनी हुई चीज है वहां वो विद्यमान रहेगा औरों की तरह की अपेक्षा वो व्यापक है पृथ्वी उतनी व्यापक नहीं है जितना आकाश है जल उतना व्यापक नहीं है जितना आकाश है बाकी जितने भी तत्व हैं कार्य जगत और मूल प्रकृति उन सब की अपेक्षा अधिक फैलाव किसका है आकाश भूत का आकाश महाभूत का इस दृष्टि से आकाश व्यापक है या सर्वव्यापक शब्द भी आप बोल दो तो गौण रूप से लगा जाएगा परमात्मा जिस तरह से सर्वव्यापक है उस तरह से सत आकाश सर्वव्यापक नहीं है हम नहीं मान सकते वैसा पर समझने समझाने के लिए ये प्रयोग होते हैं परमात्मा कैसा है कैसे व्यापक है जैसे आकाश सर्वव्यापक है ये मोटे तौर पे कथन किए जाते हैं हम भी बोलते हैं आप भी बोलोगे सुने जाएंगे पर अंदर हमारे को ये समझ रखनी चाहिए कि ये सत आकाश व्यापक है तो किस रूप में कैसा व्यापक है इसकी व्यापकता है कैसी परमात्मा की तरह की व्यापकता है या दूसरे ढंग की व्यापकता है ऐसा इसमें समझना चाहिए हाँ बोलो सब आकाश है इनका प्रश्न है कि जहां जहां सत आकाश है वहां वहां वायु भी है देखिए सत आकाश का थोड़ा स्वरूप समझ लें पहले और कुछ बातें जो हमें स्वीकार्य हैं हम स्वीकार कर चुके हैं उसके आधार पर ये बात बोलेंगे सत आकाश मूल प्रकृति से बना है इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सत्वरज से बना है सत्वरज स्तंभ कण है तो उससे बना हुआ आकाश भी कण युक्त होगा उससे बना हुआ आकाश भी कण युक्त होगा स्वीकार्य है वायु भी एक महाभूत माना गया है उसके भी अपने कण हैं वो भी सत्वर स्तंभ से बना है दोनों सत्वर कण से बने हैं अनुपात आदि वो भेद है इसलिए भिन्नता है अब प्रकृति के जो सत्वर स्तंभ है क्या वो एक के अंदर घुस सकते हैं मूल जो कण है आदि कण क्या उनमें अवकाश है इन परमाणुओं में तो अवकाश मान लेते हैं विज्ञान भी मान रहा है लेकिन जो आदि तत्व है मूल कण है सत्वर स्तंभ क्या उनमें अवकाश है कि कोई दूसरा प्रवेश कर सकता है हम यही मानना होगा कि नहीं कर सकता कोई भी हो मूल कण उसमें दूसरा कण प्रवेश नहीं कर सकता वो अपने आप में नित्य अविभाज्य कण होगा ठीक है तो मैं फिर से दोहरा देता हूं जो सत आकाश है वो सत्वर स्तंभ से बना है ये भी कणमय है जो वायु बनी है ये भी सत्वर स्तंभ से बनी है ये भी कणमय है इनके अपने अपने कण हैं ये अपना स्थान घेरते हैं तो एक के अंदर दूसरे उस तरह से नहीं हो सकते ये आपका प्रश्न ये था कि क्या वायु में भी है अगर कण के रूप में देखेंगे तो नहीं होगा लेकिन अभी इस वायु की बात कर रहे हो आप कि क्या इस वायु के बीच में वो आकाश है तो उत्तर आएगा हाँ क्योंकि ये वायु में जो कण है वायु के वो दूर दूर हैं फैले हुए हैं उसमें अवकाश है जैसे पानी में हम चीनी घोल देते हैं तो मिल जाती है अंदर दूध में चीनी घोल देते हैं मिल जाती है उसमें अवकाश होता है वहां वो फैलती है ऐसे ही वायु में प्रकाश भी है सुगंध दुर्गंध भी है धूल के कण भी है नमी भी है हम लोग भी बैठे हैं और बहुत सारी चीजें हैं सूक्ष्म जीव भी हैं क्या न जाने कितनी चीजें हैं इस रूप में वायु में है लेकिन वायु का मतलब वायु का कण अगर आप लेंगे महाभूत सूक्ष्म कण और आप कहेंगे कि उसमें भी आकाश का कण है तो वो बात तो मेरे समझ में नहीं आती हाँ इस मोटे कथन में कह सकते हैं कि ये जो वायु है इसमें आकाश है हाँ है इस शब्द का व्यवहार भी हो रहा है इससे भी हमें पता लगता है कि शब्द गुण है तो वहां पर ये भी विद्यमान है इत्यादि सुकामा जी हम्म अवकाश कह रहे हैं वो स्पेस है जिसमें दूसरे लोग भी रहते हैं हाँ जिसमें सब लोग रहते हैं वो तो अवकाश है स्पेस यानी शून्य है वो तो और जो आकाश तत्व है वो भी सब जगह है इसी पृथ्वी पे नहीं है सब जगह वो तो है जहां जहां अन्य लोगों में भी जहां जहां तत्व के रूप में उसकी आवश्यकता है वहां पर वो होगा जहां सब जगह जहां पर भी जहां उस तत्व की आवश्यकता है है वो कहां कहां है कितना है इसकी कोई व्याख्या हम नहीं कर सकते लेकिन इसको स्पेस यानी रिक्त स्थान से मत जोड़ना वो हम लोग पहले ही भेद कर चुके हैं आकाश एक सत्य और एक असत्य ठीक है स्पेस यानी तो केवल स्थान जगह खाली रिक्त शून्य उस रूप में अगर आप देखेंगे तो वो असत आकाश है और ये जो सत आकाश है ये महाभूत आकाश है एक अपने कारण से बना है उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो जो स्पेस वाला है वो तो कुछ है ही नहीं उसका बनना बिगड़ना क्या वो तो कुछ है ही नहीं दूसरी सब चीज आ जाती है तो हम कहते हैं कि अब नहीं रहा वो वो चीज हट जाती है तो कहते हैं कि वो आ गया वास्तव में कुछ आना जाना नहीं है उसका वो तो शून्य है और आगे चर्चा चला लेंगे अभी आपकी आकाश की चर्चा तो थमने वाली नहीं लग रही है छोटे मोटे एक दो हो तो कर लेते हैं नहीं तो फिर एक दिन और लगा लेंगे माता जी बैठिए बैठिए बढ़ता है हाँ हाँ आपका प्रश्न अलग विषय पे है

एक कण दूसरे में नहीं प्रविष्ट कर सकता ये जड़ वस्तुओं पर लागू होता है उन वस्तुओं पे जो स्थान घेरती हैं ठीक है प्रकृति के कण और उनसे बने हुए पदार्थ वो स्थान घेरते हैं उनमें ये नियम लागू होता है परमात्मा कोई स्थान नहीं घेरता और वो इनसे सूक्ष्म है इसलिए वो इनके अंदर भी रहता है ये बात आत्मा के लिए भी है आत्मा में भी परमात्मा रहता है जीवात्मा में क्योंकि परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है इसलिए इन दो तत्वों को छोड़ करके बाकी में अलग ये नियम लगता है और उनमें भी जो सूक्ष्म होते हैं वो स्थूल में प्रवेश कर जाते हैं ये कांच है कांच वैसे तो पूरा है इसमें हम सुई नहीं घुसा सकते लेकिन प्रकाश तो आता जाता है इसमें से कांच में से आता जाता है हाँ। शब्द भी आ जाता है कुछ या तो न भी आए तो प्रकाश तो खूब आराम से आ ही जाता है अलग अलग कांच में साफ कांच में तो आ ही जाता है तो ये तो सूक्ष्मता के कारण से अंदर विद्यमान रहते हैं यद्यपि ये, ये बिंदु भी समझने में बड़ा कठिन है बैठता नहीं है कि परमात्मा भी अंदर कैसे रह लेता है इसे बाहर रहता हो तो समझ में आता है अंदर कैसे रह लेता है लेकिन उत्तर इसका यही है वो सूक्ष्म होने से अंदर भी रहता है और कण है वो स्थान घेरते हैं वो एक दूसरे में नहीं जा सकते इतना ही उत्तर है उसका हाँ बोलो आकाश का आकाश का किसी भी वस्तु का अनुभव उसके गुणों के माध्यम से होता है तो <coughs> इसका गुण शब्द है उसी आधार से ही हमें पता लगता है शब्द इसमें होता है शब्द इसका गुण है दूसरा उसका क्रिया की दृष्टि से माना जाता है वैशेषिक दर्शन में निष्क्रमण प्रवेशन आदि जो होता है हमारा वो उसमें आकाश इस रूप में हमें निष्क्रमण प्रवेश आदि में सहायता करता है आकाश तत्व जो है उसको उसका पूरा स्वरूप समझ में आने जैसी स्थिति वर्णन नहीं दिखाई देती है अभी लेकिन जो वर्णन मिलता है वो आपके सामने रखा कुछ प्रश्न है इसमें आकाश के बारे में जिसका पूरा स्पष्टीकरण मेरे को अभी नहीं है ठीक है तो इतना बहुत रखें लिख करके लिख करके दे देना और तो ये एक नया प्रश्न है और आपको हाना में उत्तर चाहिए तो हमारी समझ तो ये है कि नहीं एक दृष्टि से आपका प्रश्न अगर है कि केवल सातवें आसमान पर रहता है और अगर आप केवल यूं पूछ रहे हो कि ईश्वर सातवें आसमान पर रहता तो है रहता है <laughs> भाई उनकी मान करके कह रहे हैं वो सातवां आसमान मतलब कोई ऊंचा आसमान होता होगा जो भी पढ़ते हैं इसकी ऐसा बोला जाता है तो रहता है वो क्या पांचवें आसमान पर भी रहता है रहता है और पहले पे चौथे पे भी रहता है <laughs> वो तो सर्वव्यापक है तो सातवें में क्यों नहीं रहेगा ये बताओ <laughs> उस दृष्टि से कह रहा हूं लेकिन आपका मतलब वो है आपका अभिप्राय तो ये है जो यूं कहते हैं सातवें आसमान पर रहता है मतलब सातवें पर ही रहता है वहां अभिप्राय ये है यानी पांचवे पे नहीं रहता यहां नहीं रहता उसके साथ में ये बात जुड़ी भी है कि यहां नहीं रहता उस संदर्भ में तो हम कहेंगे कि सातवें पर ही रहता है तो ऐसा नहीं है यहां भी रहता है सब जगह रहता है मंत्र कट